और अगर आप किसी कौम की खयानत से डरें तो आप उनका अहद बराबरी के साथ उनकी जानब फेंक दें बिलाशुबा अल्लाह ताला खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता